और तुम्हारे लिए कौन सी रुकावट है जिसकी बिना पर तुम उस जानवर में से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो हालांकि उसने वो चीज़ें तुम्हें तफसील से बता दी हैं जो उसने तुम्हारे लिए आम हालात में हराम करार दी हैं अलबत्त जिनको खाने पर तुम बिल्कुल मजबूर ही हो जाओ तो उन हराम चीज़ों को भी बकदर ज़रूरत इजाज़त हो जाती है और बहुत से लोग किसी इल्म की बुनियाद पर नहीं بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے